शिव जय जय गोपाल जय जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासो यस्यास्य कमलदलितं वाग्मयम् अमृतं तिलकमेवति विश्वसर्गविसर्गाय नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परमधाम जगधामान्तः वन्देहं श्रीगो श्रीपदौलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सात्मजातं सहगरुणमानान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम उत्तम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण सर्वलता श्री शांता नारायण नमस्कृत नर चैतम देवी सरस्वती व्यास प्रभु जयती रहे श्री राधा प्राण बंधो चरण कमल केश की कन्या या साध्या प्रेम सेवा चरित पर गांव लौंडे कलभ्या भाव्याम रागानुरूपा रागानुरूपान्तरे ब्रजमनुचरन्तरैकमन्तस्मोमि वाञ्छाकल्पभ्यश्चकरवासमुद्रेण च पत्तानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाकराशे हे दुर्गत जनैक दयालो

उसकी धारा चिंतन करते श्री मोहन के कुछ पदों का संग्रह करते हुए पद्यों का उसके आधार पर इस लीला का चिंतन कर रहे हैं श्री कृष्णदास आपका श्री यशोदा जागे उसके कहने उठ करके आप दही मत की और दही वो सर्वत्र सर्वत्र है ये सड़सठ में श्लोक है अब अड़सठ सिक्सटी एट ताम आगताम अभिप्रेक्ष साक्षादेव तपश्रियम विजय पराविद्या सिद्ध ज्ञा अभ्युत जय मुदा अभ्युदय श्री यशोदा दही मरने के लिए बैठती है और जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन कौन मासिक जी आ रही है तो कौन मासिक जी को आया हुआ देख करके ये शिष्टाचार है हाथ का काम छोड़ करके बड़े आए हैं और हाथ का काम छोड़ करके एकदम सो तो ताम मन पौर्णिमा सिद्धि को आगताम अभिप्रेक्ष नंद भवन में आया हुआ देखकर पौर्णमासी जी कैसे है उनके लिए विशेष दे रहे हैं कि साक्षात एवं तपस्या मानो तप की संपत्ति ही साक्षात रूप से आ गई परम तापसी श्री पौर्णमासी जी जिनके मुख से अंग से चारों तप का प्रकाश झलक रहा है सो साक्षात तपस्वी साक्षात तप की संपत्ति के समान पौर्णमासी जी आएंगे ब्रज की श्री यशोदा जैसा बड़े आचरण करेंगे और ब्रजवासी वैसे ही आचरण करेंगे इसलिए ब्रज की रानी श्री यशोदा परा ये परम विद्वान अभी सारे स्मार्ट सभी कर्मों में परम स्मार्ट पूरे धर्मशास्त्र को जानने वाले परम संस्कार परम विदुषी श्री यशोदा परा विद्या स्थिति ज्ञान और जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को वे अच्छी तरह से जानने वाली हैं अभ्युदय होता उस समय पौर्णमासी जी अभ्युदय माने अभ्युत्थान दिया पौर्णमासी ने अपने हाथ का काम छोड़ा और उठ करके खड़ी हुई इसको कहते हैं अभ्युत्थान किसी के स्वागत में उठ करके खड़ा हो तो पौर्णमासी जी ने अभ्युत्थान उस समय प्रदान किया है अभी उद्यय मुदा तुरंत तो ही उठ करके खड़ी हुई मुदा माने आनंद से

इन तीनों कालों के तत्वों को जान भूत भविष्य वर्तमान जो अनुग्रह करने में और दंड देने में समर्थ हो उसका नाम है भगवान तो व्यक्ति के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है आपके ऋषियों के लिए अजय भगवान भगवत शब्द का प्रयोग होता है तो हे भगवान ये वो आपका स्वागत है ब्रज बंदे आप संपूर्ण ब्रज के द्वारा बंदनीय ब्रज बंदे स्वागत आपका स्वागत है स्वागत है ही प्रणाम आपको मैं प्रणाम कर रही हूं ऐसा कहकर के श्री यशोदा ने सविधे प्रणमन श्री पौर्णमासी जी के समिधे माने निकट जाकर उनको प्राप्त क्योंकि जहां वंदन नाम करके जो भक्ति का अंग है उसमें बहुत दूर से प्रणाम करना एकदम सामने रास्ता रोक करके प्रणाम करना दाहिनी ओर आकर के प्रणाम करना बाई ओर से प्रणाम करना पीछे से प्रणाम करना ये सब निश्चित है एक हाथ से प्रणाम करना ये निश्चित है दोनों हाथ जोड़ करके जो अपने बाइयों से और जो महापुरुष हैं उनके दाहिनी ओर आकर के फिर प्रणाम किया जाता है एक और कोने में आकर के फिर प्रणाम किया जाता है तो समिधे मन कौन मास्टर जी के निकट आकर साम मुकुंद पर जब प्रणाम किया तो सामान्य पौर्णमासी जी ने मुकुंद जन्मी को श्री कृष्ण की माँ उन यशोदा को परे दे दे बीच में ही उठा करके प्रणाम करने के पहले ही अपनी छाती से लगा दिया और श्री पौर्णिमासी जी ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया बेटी खूब आनंद रहो फूलो खूब ऐसे आशीर्वाद दिए ब्रज के जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद दिए को आनंद का मौत का तो आशीर् भी अभिनंदन पौर्णिमासी को आशीर्वाद देकर के पौर्णिमासी जी ने आशीर्वाद देकर के यशोदा का अभिनंदन किया अमु अमु मतलब यशोदा और गोविंद दर्शन और उसका पौर्णिमासी श्री गोविंद के दर्शन करने के लिए उसको कह रहे हैं कुशलम चास्या श्री यशोदा की कुशल पूछी कि बेटी प्रसन्न तो है ना तेरे बाल बच्चा पति पुत्र सब प्रसन्न है ना तो पप्रच कुशलम चास्या श्री पौर्णमासी जी ने यशोदा की कुशल पूछी और फिर सदभा आत्मज है फिर सदभा धव मन पति पति की कुशल पूछी मान नंद बाबा कुशल पूछी तो ब्रजराज प्रसन्न है ना फिर आत्मज तेरा बेटा प्रसन्न है ना कन्हैया रामकृष्ण इन दोनों की कुशल पूछी आत्मजो के और को और ब्रज की गाय संपत्ति वो तो सब खूब आनंद पूर्वक है ना कहिया सुख को आनंद बढ़िया दे रही है वो बड़ी सुंदर गायों की वृद्धि हो रही है गोवर्धन हो रहा है ऐसे सबकी कुशल पूछी निवेद्य कुशलम चाहते श्री यशोदा जी ने अस्थिर मानी श्री पौर्णमासी जी के सामने निवेद्य कुशलम कहा पौर्णमासी जी आपके आशीर्वाद से सब आनंद आनंद है हम लोग आपका आशीर्वाद है तो हम लोग आनंद को हुआ तो निवेद्य कुशलम चाहते है चाहते अस्थिर माने पौर्णमासी जी के लिए कुशल का निवेदन करके तयो कंठित श्री पौर्णमासी जी अत्यंत अत्यंत उत्कंठित है कृष्ण दर्शन करने के लिए उपका श्री यशोदा भी उत्सुक होकर के शैया ग्रह सुंदर प्रवेश विजेश्वरी श्री विजेश्वरी पुत्र के शैया घर में उस समय प्रवेश करते हैं उस समय श्री पौर्णमासी को लेकर के श्री यशोदा कृष्ण के शैया घर में उनका मन उत्सुक होकर के प्रवेश किया ये अपनी आंखों से पुत्र को देखना अपने हाथ से काम करना तो मां को संतोष होता है कोई दूसरा करे तो संतोष नहीं होता ये प्रेम की रीति है कि घर में चाहे कितनी भी नौकर चाकर कितनी भी दासियां हैं परंतु यशोदा कन्हैया के लायक चार पांच गैयाओं का दूध दही उसको अलग जमाएंगे दही को अपने हाथ से उसको मत कि दूसरा उतनी अच्छी तरह से नहीं करेगा अपने बेटे के लिए तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी ये माँ का स्वभाव है सो so, उत्का होकर के कृष्ण का दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर के विवेश ब्रजेश्वरी उस समय ब्रजेश्वरी में प्रवेश किया तो श्री यशोदा अत्यंत उत्सुक होकर के उस समय पढ़ा शैया श्री यशोदा जी की शोभा यशोदा की शोभा कैसी है टोरी जूट पक्र केश पटला सिंदूर बिंदुर लसक सीमंत द्विज अंग भूषण विधि नाटक श्रुता गोविंदा से विशिष्ट शास्त्र वृंदा नरेंद्री वर श्यामा श्याम रुचिर गोष्ठेश्वरी श्री गोष्ठेश्वरी हम सबकी रक्षा कर रहे हैं जी के ध्यान का एक बात का श्लोक है भक्त संत का श्लोक है रूप कुशल का श्लोक है श्री भक्त साम सिंधु में कई दिए जहां पर कोई श्लोक नहीं मिला वहां पर गुरु गोस्वामी जी ने अपनी रचनाएं भी उन्हीं श्लोकों में तो उदाहरण के रूप में अपनी रचनाएं लिखी तो वो एक आचार्य रूप था और आचार्य रूप में वहां उस समय ये एक सामान्य प्रवृत्ति थी उस समय के इतिहास पर को यदि देखें कि सत्रहवीं शताब्दी तक आते आते सोलहवीं शताब्दी से लेकर के सत्रहवीं शताब्दी के बीच में जितने भी कवि हुए वे अपने आप को आचार्य रूप में भी स्थापित करना चाहूंगी और आचार्य की जो सिद्धांत है वे सिद्धांत को पहले से भरत मुनि के द्वारा पहले से स्थापित है परंतु उन्होंने परिभाषाएं को तो ली गई उनका परिभाषा का जो तथ्य है वो तो लिया वही उसमें कई शब्दों का हेरफेर भी कर दिया कभी कभी तो वे की वे क्यों की क्यों वे ही परिभाषाएं उपस्थित कर, कर दी गई पर उनके उदाहरण रूप में उन उन संग्रहकर्ताओं ने अपनी प्रतिभा अपनी काव्य प्रतिभा उसका प्रदर्शन किया और प्राय जो दृष्टांत दिए गए वो दृष्टांत उनके अपने तो ये श्री अब यशोदा यशोदा का जो वर्णन वो शास्त्रों में अनेक जगह श्रीमद इत्यादि में करते ये यशोदा की शोभा का पहले वर्णन किया जा चुका है परंतु यहाँ पर श्री गुरु गोस्वामी अपने स्वयं की कल्पना उनको भी उसके दृष्टांत के रूप में भक्त साम्य सिंधु ने अनेक अनेक जगह अपनी रचनाओं को उन्होंने स्थापित और इस प्रकार उस समय की जो आचार्य रहे कवि रहे वे कवि और आचार्य दोनों है श्री गुरु गोस्वामी जी के व्यक्तित्व को हम तीन पक्षों से देख सकते हैं एक व्यक्तित्व है साधक भजन करने वाला और स्वयं आचरण करके आचार रूप में भजन कैसे किया जाता है उनका अपना जो व्यक्तिगत जो जीवन है रूटीन उनका अपना वो कैसा भक्त का जीवन है इसको भी प्रकट करते हैं तो उनमें साधन की श्रेणियां वे भी प्राप्त होती है तो ये तो मुख्य है मुख्य रूप से तो वे स्वयं भजन कर रहे हैं दूसरों को भजन की शिक्षा दे रहे दूसरा उनका मतलब जो व्यक्तित्व है वो है काव्य शास्त्रीय आचार्य का व्यक्तित्व और उसमें पोलिटिक्स के जितने भी सिद्धांत हैं काव्य शास्त्र के सारे सिद्धांत उन सिद्धांतों को उन्होंने कहीं संकलित किया और उनके उदाहरण अपने रूप में दिए और तीसरा उनका कव्य व्यक्तित्व जिसमें वस्तु का प्रभावशाली ढंग से कल्पना के साथ में जोड़ करके विचार के साथ में जोड़ करके भावनाओं का हृदय स्पर्शी जो परिवेशन वह उन कवियों ने श्री रूप गोस्वामी जैसे कवियों ने किया तो उनके व्यक्तित्व को हम तीन रूपों में दे सकते हैं एक और है उनका साधक व्यक्तित्व उनका नित्य सिद्धि जो व्यक्तित्व है तो वही साधक रूप में इस समय अवतार धारण किया है और तो साधक जैसा आचरण करते हुए भक्त आचरण करते हुए विराजमान है तो भक्त व्यक्तित्व तो दूसरा काव्य शास्त्रीय आचार्य का व्यक्तित्व तो और तीसरा सुकवि का व्यक्तित्व तो इन तीनों व्यक्तित्व को प्रकट तो यहाँ पर कोई तीसरा जो व्यक्तित्व है सुकवि व्यक्तित्व वो प्रकट हो रहा है कि तो डोरी चूटित वक्त पटना जिनके वक्र माने टेढ़े केश पटल जो है उस चूड़े को अमूड़े को थोड़ा टेढ़ा बनता है बीच में नहीं है पीछे नहीं है बल्कि सिर के ऊपर टेढ़ा उन्होंने सिर के ऊपर चूड़ा वो एक जिंदा है प्राय दक्षिण में जितने भी शिव ग्रह हैं वे सब जितने भी अर्चा वे सारे अर्चा सारी प्रतिष्ठाएं वे सब टेढ़े शिव ग्रह की पढ़ाया जा रहा है टेढ़ी टुकड़ाई तो ये माने फैशन कॉन्सेप्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है <laughs> तो टेढ़ा जो चूल्हा है उसके ऊपर फिर डोरी बांधी हुई है तो टेढ़ा चूल्हा वो अपने से क्योंकि पीछे का जो झूला है वो मेहनत के काम करने पर जल्दी से खुल सकता है ढीला हो सकता है पर बगल में जो है उसका वजन का जो ग्रेविटी है वह कहीं शरीर के बीच के भीतर ही रहेगी इसलिए जूड़ा गिरे गिरेगा नहीं इसलिए काम करते समय टेढ़ा जो जूड़ा है वो अधिक सुविधापूर्ण है तो डोरी जूटित डोरी से उन्होंने वक्र मान टेढ़ा केश पटल जो है उन केश पटल को जूड़े को बांध रखा है टेढ़ा जूड़ा एक और थोड़ा झुका हुआ वो बन रहा है उसके ऊपर सुंदर डोरी कसके बांध रखेंगे सिंदूर बिंदु लसा सिंदूर की बिंदु भी श्री मस्तक के ऊपर शोभा प्राप्त हो रही है बड़ी सुंदर ये पेन स्केच जैसे खींच दिया गया हो एक दूसरे सामने जो दृश्यावली उसको इसको कहते हैं संश्लिष्ट चित्र केवल नाम परिगणन नहीं है संश्लिष्ट जो शरीर है वो प्रकट हो गई सीमंत द्युति अंग भूषा सीमंत मान केशा केश उनकी द्युति शोभा को प्राप्त हो रही है और अंग भूषण विधि मस्तक के जो आभूषण है वो भी धारण कर रखे हैं और अंग भूषण विधि और जो नित्यादी पहनने के स्वाभाविक पहनने के जो आभूषण हैं उनको भी उन्होंने धारण कर अंग भूषण अंग आभूषण को भी वे धारण करके विराजमान है माने महिलाओं के सौभाग्य सूचक जो पांच छह जो आभूषण है सौभाग्यवतियों के जैसे मस्तक के ऊपर मणि सिंधु जैसे बिंदी तो सिंदूर बिंदी नाक में नथ कंठ में मंगलसूत्र हाथ में कांच की या शंख की चूड़ी ये सौभाग्य के प्रतीक होकर के जो चरण है उनमें बीचिया तो ये जो मंगल चिन्ह है जो कि सौभाग्यवती सर्वदा धारण कर रही हो ये तो रानी है तो रानी को आभूषण धारण करनी पड़ेगी नहीं तो फिर रानी कैसे नहीं दिखेगी इसलिए सीमंत द्युति सीमंत की द्युति अद्भुत रूप से केश की जो द्युति है वो श्री यशोदा की अपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है और अंग भूषण विधु और अंग में भी आभूषण उन्होंने धारण करके हैं कमर के ऊपर चौड़ी जो कोधनी उस कोधनी को जरा कस करके बांध रखा है तो अंग भूषण विधि अंग भूषण की अपूर्व विधि है नातिक प्रभुतम श्रद्धा इस समय न अति प्रभुतम ज्यादा आभूषण नहीं लाभ रखे है विद्या की पहनने के जो स्वाभाविक आभूषण है उन्हीं आभूषणों को वे पहने हुए हैं नातिक प्रभुतम प्रभुत आभूषण उनको धारण नहीं किया है बेसा विभिन्न अवसरों पर धारण किए जाने वाले जो आभूषण है वे अलग है और ये आभूषण अलग है तो नाभिक नागरिक श्रोता ज्यादा आभूषणों को भी धारण करके विराजमान नहीं है तो जो सेरेमोनियल आभूषण है वे अलग है और रोटीन के जो आभूषण है वे अलग है इस समय रोटीन के नित्यादि जो आभूषण है उनको धारण कर रहे हैं विशेष अवसरों पर प्राप्त कर धारण किए जाने वाले विशेष आभूषणों को उन्होंने अब धारण नहीं कर रखा है तो न अति प्रभुतम श्रता ज्यादा आभूषण धारण नहीं किए गोविंदा से विशिष्ट सांदा श्री गोविंद का दर्शन करके विशिष्ट शास्त्र मेहनत बंदा आनंद के आंसू जिनकी आंखों में डबडबा आए तो गोविंद के आश्रय माने मुख्य उनमें विशिष्ट माने दृष्टि लगाने पर साक्ष्य देना शाश्वत अश्वों से युक्त चित्ते हुए नवेंद्री वर्ष का नए नील कमल के समान श्री यशोदा की शोभा और श्री वैष्णव आचार्य ने वर्णन किया बड़े आचार्य वर्णन करते थे कि यशोदा की गोदी में कृष्ण कैसे लगते हैं जैसे नील कमल के ऊपर और यशोदा का रंग थोड़ा सा उज्जवल है दिन दोनों दोनों सावरे परंतु श्याम सुंदर जाता जाता शाम तो बस जैसे नील कमल के ऊपर नीला हो रहा वो जैसे शोभा को प्राप्त हो रहा है ऐसे गोदी में श्याम सुंदर की शोभा हो रही है श्याम रुचि परम सुंदर श्याम रुचि वाले श्री राधिका श्री यशोदा विचित्र सिचया विचित्र आभूषण सिच माने वस्त्र विचित्र वस्त्र वे धारण कर रही है झलमल करने वाले जो वस्त्र हैं उनको धारण करके रेशमी वस्त्र है पर वो रेशमी वस्त्र भी कहीं वो विभिन्न रंगों के प्रकाश को प्रस्तुत करने वाला वो तो वस्त्र तो सूरज चंदा जैसे वस्त्र हैं उनको वे धारण रूप में विराजमान गोष्ठेश्वरी पापवा ऐसी गोष्ठेश्वरी हम सब का कल्याण करें पापवा ब्राह्मण जाति है इसे आशीर्वाद देने की आदत पड़ रही है पापवा तुम लोगों का कल्याण हो ये स्वामी आशीर्वाद दे रहे परंतु वह शची नंदन अत्यंत आनंद है इसलिए हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं सदा कि स्फुरत वह तुम लोगों का कल्याण करे चंद्रशेखर दास बाबा पाठ करते तो वह जी के न कहने लगते स्फुरत न हमारे हृदय में वे शची मूल में वह है वह तुम्हारा तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर कृपा है

उस समय श्री माता कह रही है कि पर्यन के व्यस्त सभ्य श्री यशोदा और यशोदा आकर के कन्हैया जहाँ सो रहे हैं श्याम सुंदर जहाँ सो रहे हैं उनके बगल में हाथ रख करके शैया के ऊपर बाया हाथ रख करके और कन्हैया के ऊपर छुप रहे हैं सुंदर शोभा कन्हैया शेयर कर रहे हैं जगाने की शोभा कि बारे हाथ को कन्हैया के पास बगल में श्री यशोदा जी ने रखा परंगे सभ्य बाएं हाथ को शैया के ऊपर टिकाए फिर तनुपर नेत स्वांग भारा उस अपने बाएं हाथ के ऊपर ही अपने शरीर का पूरा भार टिकाए तो शैया के ऊपर अपना हाथ रख करके फिर कन्हैया के ऊपर झुक रही और कन्हैया तो धीरे से पुचकारती हुई जैसे जगा रही है ये हुई अथ पाणी कृष्ण स्पृशंती और पाणी कृष्ण श्याम स्पृशंती अपने दाहिने हाथ से श्री कृष्ण के संपूर्ण अंग के ऊपर धीरे से हाथ देती हुई सहराती हुई श्री यशोदा कृष्ण को जगा इतर कर कमल ईशन आभूषण मध्या दूसरा जो इतर माने दूसरा माने दाहिना जो कर कमल है उससे श्री कृष्ण के सारे अंगों को सहलाती हुई आभूषण मध्या जिनकी कमर टेढ़ी हो गई जो करेंगे तो कमर टेढ़ी हो ये श्री कृष्ण के श्री उनके ऊपर केरसिंग वो उनके ऊपर सहला विराजमान हो गए सिंचनती आनंद बाष्प आनंद के अश्रु आ रहे हैं वो आनंद के अश्रु उनकी बात कहीं गिर रही सिंचन की आनंद बाष्प स्मृत कुछ पैसा और वक्षस्थल उनसे दूध की धारा भी टपक रही है दूध की सुंदर के तप स्नुत कुछ जो चाहते हुए जो वक्षस्थल उनसे दूध की धारे बह रही है अस्थियों तल्पम तो शैया जो है उसको भी दूध की दूधों से दूध की धारा से सिंचित करती हुई तल्पम श्री कृष्ण की शैया को भिगो रही है और कह रही है बेटा बेटा ऐसा कहकर के बेटा आशु अब तो नींद को त्याग कर दो मुख दर्शयो बेटा अपना मुख कमल दिखाओ ना मुझे दिखाओ तो सही ऐसा कहकर के मुख कमल दर्शयो मुख कमल उनका दर्शन कराओ आह माता ऐसा माता ने उस समय कहा ये संश्लिष्ट वर्णन चित्रात्मक था योग्य तो ये चित्र खींचने लायक एक डिस्क्रिप्शन पूरा पूरा यहाँ पर दे दिया गया पूरा पूरा चित्र प्रस्तुत कर दिया गया मधुर को वाच उस समय मधुर को वाच गांधर्व के मधुर का बोली कि गांधर्विकेश्वर यदन नंद भवन में उस समय जो विचित्र घटनाएं घटी उनको मैं तुम्हें बताती हूं हे गांधर्व के अब ये वर्णन किया जा रहा है कहा श्री राधिका की कुंज में राधिका के महल में परंतु ये मधुर का जी अभी अभी नंद भवन से होकर के आई हैं तो जो देख करके आई हैं उसको श्री राधा रानी को सुना कि के श्लोक जब अन्य अभूत विचित्र वहां पर जो विचित्र अन्य घटना हुई उसको मैं तुम्हें बताती हूँ उस समय श्री यशोदा जी ने श्री राधिका के ओढ़ने को श्याम सुंदर के बक्षस्थल के ऊपर देखा नीले वस्त्र को श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर जिस समय देखा उधर श्याम सुंदर का जो पटका था पीताम्बर को उसको देख रही है मुखरा जी श्री राधिका के वक्षस्थल पर मंदिर में ढोटा के ऊपर जो पटका दिखा वो मेरी नाती के ऊपर कैसे आ गया तो ऐसे हल्ला मचा रही थी और यहाँ पर कह रही है कि नहीं यहाँ पर श्री यशोदा जी कह रही है कि ये वीर अंश है और कह रही है तो वीरांश का नीले वस्त्र को अपने पुत्र के पक्षस्थल के ऊपर देख करके ताम आप सही को भगवती भगवती श्री भगवती पौर्णमासी जी से श्री राधिका कहने लगे गोष्ठ उस समय ये ये वस्त्र कैसे है और समाधान कर तो राधिका से यशोदा से मासी जी कहने भगवती जब पूछा भगवती भगवती से पूछा कि ये कैसा है कैसे है उस समय श्री भगवती पौर्णमासी जी ने उत्तर में ताप आप श्री यशोदा से ये कहा कि हे गोष्ठ राजी अरे गोष्ठ ब्रज की रानी हे ब्रज रानी बोले बलराम के वस्त्र से इनका वस्त्र बदल गया बलराम जी नीला वस्त्र पहने मतलब, यशोदा जी इस तरह से मिलन के चिन्हों को देख करके भी उनमें कारणांतर के अपने भाव के अनुसार कालवंतर की योजना कर लेनी है जो वस्त्र है ये श्री राधिका का वस्त्र है ऐसा भी जाना कालवंतर की योजना करते हुए कह रही है ये जो वस्त्र है ये राम के अंबर है श्री बलदाऊ जी के नीलांबर से युक्त होकर श्री बलराम नीलांबर श्याम सुंदर पीतांबर धारण कर तो वस्त्र बदल गया अपने भाव के अनुसार ही ध्यान कर रहे हैं श्री कृष्ण भावनामृत में ये कविराज गोस्वामी कृष्णदास कविराज ये वर्णन ये संकलन है कहीं गोविंद नामक से कहीं कृष्ण भाव नामक से कहीं श्री कृष्णानंद कौमुदी उनसे कवि कवि को उनकी कृष्णानंद कौमुदी तो कहीं श्रीमद भागवत तो कई जगह के श्लोकों का सार संग्रह है तो ये अब ताटंकांग अरुणमन किंब एव गंडे विभाग तव तो माधव शोण शोची इत्युक्त एव सतया निज पाणना तम सद्योजन भवत आधार राग श्री पौर्णमासी जी बड़ी चतुराई से पौर्णमासी जी मधुर रस में भी निष्णात हैं और बासल रस में भी निष्णात हैं पौर्णमासी में सौरस रस है सक्षरस भी है श्याम सुंदर पौर्णमासी के साथ में हंसी भी कर ये बड़े बूढ़े ब्रजवासी जो है ना बड़े बूढ़े डोकरी उनके साथ में छोटे छोटे बालक मजाक भी कर रहे उनके साथ में भी हंसी कर रहे हैं तो बात तो सब रस है रस भी आगे है और वात्सल्य भगवत सब रस आ तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री पौर्णमासी जी कृष्ण को बड़ी चतुराई से गुरुजनों से कृष्ण की रक्षा करते हुए पौर्णिमा से कह रहे हैं ये चंद्र संवरण या सखियों का जो कार्य है वो सखियों का स्वभाव श्री राधा श्री पौर्णिमा जी में भी प्राप्त है चित्र संवरण गुरुजनों से रक्षा ये स्वभाव यहां पर भी प्राप्त है तो कह रहे हैं कि आहा हे कृष्ण देखो काटंक का अरुण मणि प्रतिबिंब एवं तुम्हारे ताटंक माने कान के कुंडल में जो अरुण मणि माने लाल मणि जड़ी हुई है उस लाल मणि का प्रतिबिंब तुम्हारे कपोल के ऊपर दिख रहा है कपोल के ऊपर श्री प्रिया जी के पीक के चिन्ह विराजमान है कहीं पीक पीक के चिन्ह है तो श्री पौर्णिमा से बड़े चतुराई से श्री यशोदा का ध्यान बताने के लिए और कृष्ण को सावधान करने के लिए कह रही हैं कि ताटंक का तो माने ताटंक माने कर्णफूल में जो अरुण मणि लाल मणि जड़ी हुई है

तुम्हारे लाल रंग का तार तुम्हारे एक कुंडल का चुंब काल के ऊपर पड़ रहा है और उसमें लाल रंग का तार दिख रहा है तुम्हारे कपूर के ऊपर चतुर्श्रोमणि तुरंत पहचान गए तो उस समय जल्दी जल्दी जोर जोर से अपने कपूर जो है उस पर लगा रहे अपने आधार जो है उन आधार को लगा रहे तो ऐसा जैसे ही कहा सब मन कृष्ण ने में मन पौर्णमासी जी ने जैसे ही कहा कि लाल रंग की पंद्रह का तुम्हारे कपड़ों के ऊपर पा रहा है ये कहते ही सब कृष्ण ने निज पालना तम अपने हाथ से उस कपोल को और अपने ओठों को रगड़ना प्रारंभ सद्यो जगत तो रंगी जगत माने रगा भगत अहर राग और उस समय राग अहर राग धारण के राग का जो चिन्ह था मैंने पीक के जो चिन्ह थे उनको श्याम चंद्र ने रगड़ रगड़ करके पहुंच दिया उसको पहुंच दिया प्रयुक्त ऐसा कहने पर के श्री कृष्ण ने अपने पाणी से अपने हाथ से तन माने उस पीठ को सद्यो जगश तुरंत ही रगड़ डाला और भगत आधार राग धारण जो कि राग का भाग था माने पीठ का अंश था उसको पहुंच लिया है और इस प्रकार से पौर्णमासी की बड़ी चतुराई के द्वारा यहाँ पर श्री यशोदा उनके सामने श्री कृष्ण की गोपनीय लीला उनको छुपा जाती है नीलांबर ये बलदेव का है और ये जो पीठ के चिन्ह है ये सब के सब आ, ये आभूषण जो है उनकी ही प्रतिमा ऐसे कहकर के समझाए उस समय कह रही है कि उत्तिष्ठ ताप रजनीयम यशोदा जी कह रही है कि हे ताप उठो ये रात्रि अब विराम को प्राप्त हो गई है पश्चिम अंशमतम उद्योद्यम उद्योद्यमम उद्योगीयमन जो अंशुमंत मन सूर्य है वह भी उद्योग्यम उदित होने का उद्यम कर रहा है उद्योग्यम मन उदित होने वाला है उद्योग उदित होने का उद्यम कर रहा है अभिराम सूर्य कितना अभिराम लग रहा है सुंदर सूर्य उदय हुआ है अब तो उठो प्रत्युष सेवन बौद्ध बिल बिलसद बिलासा देखो प्रत्युष माने प्रातः काल के समय तुम्हारी जो सेवा करने की उन सेवन के सेवा करने के लिए बिल बिलसद बिलासा विभिन्न प्रकार के विलासों को करने के लिए सेवा करने के लिए कुमार दासा इस समय तुम्हारे कुमार कुमारों के दास नंद भवन के जितने भी दास हैं उन दासों के कुमार कुमार दासा माने कुमार अवस्था की जो दासगण अर्थात दासों के पुत्र वे तुम्हारी सेवा करने के लिए सब इस समय प्रातः काल आ रहे तो नंद भवन के जो बाबा के सेवक हैं उन बाबा के सेवकों के जो पुत्र हैं वे भी श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए राजकुमार की सेवा करने के लिए उद्यत हो गए हैं तो ये सब के सब आ गए आ गए इनको तुम देखो संकीर्तन जय जय ग्राम सुमत्ता स्वामता जाग रहे पुण्यात्मता संकीर्तन जय जय उसी समय जितने भी दास थे उन सब दासों ने ब्रजराज कुमारी की जय ऐसे जय जय करना प्रारंभ कर दिया श्री नंद कुमार की जय ब्रजराज कुमार की जय जय हो ब्रजराज कुमार मुख दर्शन कराए जय जय जय ऐसे कहकर के ये सारे जो दास कुमार हैं वे उपस्थित हो गए संकीर्तन जय जय जय राम सुहृतो हे यशोदानंदन हे ब्रजराज कुमार हे पूतनारी हे अघारी ऐसे जो मधुर वचन है पूतनारी अरे शक्तारी ऐसे जो वचन है बालूला के हे दामोदर इन वचनों का कहते हुए सब सखा जय हो जय हो ऐसे कह रहे गिरा सुमृता स्वाम ताप जाग रहे हे ताप तुमको जागरण कराने के लिए प्रयास प्रवृत्ता ये कुमार दासों का छोटे छोटे जो दास है उन दासों का यह समूह इस समय प्रवृत्त हो रहा है क्या भाग्य श्री कृष्ण की जो सेवा करने वाले दास है उनके भाग्य का क्या निर्माण किया है तो संकीर्तन जय जय जरा सुमृत सुमृत जय जय जरा मधुर स्वर में सुमृत मैंने मधुर स्वर में जो गायन कर रहे हैं तो आप जाग रहे और हे बेटा तुमको जगाने के लिए शिव प्रवृत्त हो रहे हैं और मासी जी कह रही है कि हे ब्रजराज कुमार तुमको जगाने और मासी का यशोदा जी दोनों के दोनों से कह रही है कि ये तुमको जगाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं तीर स्तवई निज पाण पुष्टा देखो ये तोता जो कि निज पाठ कलेन पुष्टा जिसको तुमने अपने हाथ के ऊपर अनार के दाने रख करके और हाथ से के ऊपर अनार के दाने रख करके जिसको चुराया ये तोता इस समय तुम्हारी जय जयकार कर जिसको तुमने सुंदर कटोरा में ले जाकर के अनार के दाने उनको तुमने अपने हाथ से कटोरा लेकर के जिसको पिलाया कभी सुंदर जो कच्चे आम की भाग है उसको अपने हाथ से लेकर के चोच में लेकर के उस तोते को तुम खिलाते हो कभी अनार के दाने छीन करके अपने हाथ थैली में रख करके तो तोता एक एक करके उन दानों को चुपता है कभी आमल की आमले उनके दानों को गुलेता है कभी आम के हाथ उनको वो अपने चोट से तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है तो तब पान तले पुष्टा तुम्हारे अपने हथेली के द्वारा जिसका पोषण किया गया है सब मन जो बात कनक श्रेष्ठा यह मंचवाक नामक तोता ये भी जय जय गिरा कर रहा है दक्षिण विचक्षण ये दो तोता है मंजुआ ये भी एक तोता है तो ये तो मंजुआ तो तो तोता जो कि कनक पंजर बास हिस्सा सोने के पिजरे में निवास करने के कारण परम प्रसन्न है ये तोता भी संकीर्तन जय जय गर गिरा जय जय गिरा तुमको जगा सब कुमार दास ये भी प्रवृत्त हो रहे हैं और ये मंजुबात जो तोता है ये भी तुमको जगाने के लिए इन कुमार दासों के छोटे सखाओं के साथ में ये भी प्रवृत्त हो रहा है

कह रहे हैं बड़े दुख की बात है खेत की बात है बेटा नींद नींद अब नींद भी नहीं है नींद भी सब गई ये तो शहर के आलस्य के कारण अभी भी तुम शैया के ऊपर लेट रहे हो तुम्हें नींद नहीं है इसलिए तब एक तुम्हारा ये जो सोना है या आलस भार होगा यह आलस्य के कारण है नीति के कारण नहीं अब आलस्य दूर नहीं हुआ है इसलिए तुम शैया के ऊपर सो रहे हो नींद के कारण नहीं सो रहे हो नींद आए तो भैया जगाती नहीं परंतु कन्हैया की नींद पूरी हो गई है इसलिए कह रही है कि तुम्हारा अभी भी शैया के ऊपर लेटे रहना यह आलस्य के कारण है और आलस्य अच्छी बात नहीं है नींद अच्छी बात है इसलिए अब जाना क्योंकि ये जो तुम्हारा शयन है यह आलस भाव मूला आलस के कारण ही हो रहा है स्वापन जयगी उठो आप नीत को छोड़ दो भव जागरण पूरा अब बस जागरण के अनुकूल हो जाओ उठ के बैठ जाओ बिल्कुल उठ के बैठ जाओ एकदम ऐसे यशोदा जी जगा रहे जागरण अनुकूल ऐसा कहते हुए श्री यशोदा ने अपने हाथ से मुह अंगम अंग श्री कृष्ण के अंग अंग उनके ऊपर बात्सल्य में स्पर्श जगाया अंगम अंगम आस्पृश्य अंग अंग इनको सहलाती हुई उनको छूती हुई बाहु बेटा को अपनी भुजाओं से छाती से लगा दिया उठा लिया और उठा करके बेटा को छाती से लगा दिया बैठे बैठे कृष्ण को ही आलोचन को आलोचन कर मातृ कला गिरम अति प्रयोग

अंश का जो अंश है उसको देखते हैं कला अंश के अंश का नाम कला कला अवतार भी वही कहलाते हैं अंश के अंश तो माँ की वाणी के अंशांश को श्रवण करके और फिर माँ के आलिंग को प्राप्त करके माँ की गोदी मिल जाए बेटे को तो मानो त्रिलोकी का साम्राज्य मिल जाए बोली में आकर के माँ को भी बड़ा संतोष घर के सारे काम का झाड़ पहुंच सब कर लेंगे बालक आड़ा टेढ़ा कैसे बोली में लटका हुआ है फिर भी एक हाथ में बालक को लिए घर के सब काम करती रहती कि माँ का का स्वभाव भी अद्भुत होकर के बिराएगा माँ को भी संतोष है मेरा बेटा मेरे पास में और बेटे को भी संतोष के मैं माँ की गोदी में तो दोनों को जैसे परम संतोष ऐसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण को माँ ने जिस समय अपने हृदय से लगाया उस समय माँ की कलहा गिरम कलापूर्ण बात छोटी छोटी वाणी को सुनकर और प्रणयों प्रणय पूर्वक माने आलिंगन को प्राप्त करके और श्रुत्वा और अनुभव श्रवण भी किया माने स्पर्श सुख भी प्राप्त हो रहा है और श्रवण सुख भी प्राप्त हो रहा है दोनों को प्राप्त करेंगे तदैव ससम्य भूहम उस समय श्री तदैव श्री श्याम सुंदर ने सम्यक सम्यक ऊहम सम्यक प्रकार से विचार किया और विचार करके का जिन्ह शरीर का अवमोचन करते हुए शरीर को अंगड़ाई देते हुए शरीर को मोड़ते तोड़ मोड़ करते हुए पुरस्कार जिम्भरण सामने ही मैया के आगे चिम्हण मुख फाड़ करके अपने दंतावली मुख गुफा उसका दर्शन कराते हुए जमाई लेते हुए जागृत दशा अभिनंदायो श्याम सुंदर में जागने की जो दशा उसका अभिनय किया कुतूहल कुतूहलपूर्वक अभिनय किया का जैसे अभिनय करते हुए विराजमान जागृत दशा में जगत में तमोगुण के कारण नील होती है रजोगुण के कारण सत्व होता है और सत्वगुण के कारण जागृत अवस्था होती है पर यहाँ पर सत्व स्तंभ है ही नहीं इस अभिन्न ये तो स्वरूप है इसके का सा अभिनय करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं कालोचितेश परे चारण परिभाग समक्षम कुमार दासी ब्रजेंद्र ग्रहणी स्वग्रहण अयासी कालोचितेश परिचारण औषधेश ये जितने भी सेवक हैं सब के सब तालोचित सेवा करने में बड़े चतुर हैं तो कालोचित परिचारण कौशलेश समय के अनुरूप जो सेवा है उसमें कुशलता संपन्न है गाढ़ानुराग परिभाग निराग और गाढ़ अनुराग उस गाढ़ अनुराग के पर भाव मन पराकाष्ठा अनुराग की जो पराकाष्ठा है उसमें निराकुलेश परम कुशल है निराकुश पर निराकुलेश निराकुल माने जो परम चतुर है कभी भी चूक नहीं अकुल माने चूक होना निराकुल माने जिनकी सेवा की पराकाष्ठा में कहीं भी चूक नहीं ऐसे ये सारे सारे सेवा काम्यचित तो सेवा करने में परम कुशल है काम अनुराग की पराकाष्ठा के कारण जो परम कुशल है और पराकाष्ठा में कोई चूक नहीं छोड़ते हैं तक्षण सबक्षण अनुशास्त्र उस समय श्री यशोदा ने उन सब दक्षिण चतुर जो साधारण जो सेवक आए हुए है कुमार दास आए हैं उन तो कुमार दास जो परम परम दक्ष है उनको संरक्षण अनुशासन संरक्षण माने मन के द्वारा ही शिक्षा प्रणाली मन यानी वैसे जैसे कल की थी ऐसे आज से वक्त ऐसे कहके थोड़ा सा संकेत करके और संरक्षण माने मन के द्वारा ही अनुशासन करके मैं इनके द्वारा मन के द्वारा इनको अनुशासन करके तो चलो चलो कम बंद अपना काम करो अपना काम करो कल जैसे कि शाबाश वैसे ही करना ऐसे अनुशासन देकर के कुमार दासी दास जो कुमार अवस्था के दासी दास हैं उन सब को अनुशासन करके ब्रजेंद्र ग्रहणी स्वग्रहण आयासी श्री ब्रजेंद्र ग्रहणी यशोदा स्वग्रहण आयासी अपने जो भवन है उन अपने भवन में गए अपने भवन में गए तो सावर को भद्र से इतनी देर में ही श्याम सुंदर के जितने भी साधारण विद्या पहले दासगण आए दास दासीगण आए और अब जो सखागण है वे सखागण भी आ गए कृष्ण से कितना प्रेम और इन सखा गणों का इन नंद भवन के दास बालकों का क्या सौभाग्य इनके सौभाग्य के लिए ब्रह्मा भी तरस ये सौभाग्य अद्भुत सौभाग्य श्री कृष्ण के श्री अंग की साक्षात सेवा को प्राप्त है इनके सौभाग्य का क्या कहना तावर को उस समय श्याम सुंदर के सारे सखा आए कौन कौन आए गो है एक का नाम गोभट है फिर भद्र से फिर सुरल फिर श्री स्तोक स्तोक कृष्ण श्री स्तोक फिर तोक कृष्ण फिर अर्जुन फिर श्री राम तोक और तो कृष्ण ये दो अलग अलग सखा है तो तोक और तो कृष्ण ये दो अलग अलग सखा है श्री स्तोक और तो कृष्ण फिर अर्जुन फिर श्री रामा फिर उज्जवल फिर श्री राम किंकड़ी राम किंकर किंकड़ी फिर सुदामा इत्यादि जितने भी सखाए हैं आद्य आज सखाए ग्रहा आज आज सखाए अपने अपने घरों से आ गए और आज अत्यंत करता मिलता अत्यंत आनंद के साथ में कृष्ण से ये मिले हैं श्री शीर्ण प्राप्त पहले श्री श्री मान श्री बलदाव जी के आनंद उत्तर की तरफ बलदाव जी के जो महल हैं उनमें श्री सहागर गए तो प्रवेश करने पर उत्तर की तरफ श्री बलदाव जी के महल है वहां पर फिर मैंने प्रवेश करें तो प्रवेश करते ही सबसे पहले नंद बाबा की सिंह को सिंगापुर के भीतर बाबा का सभा मंडप है सिंगापुर के ऊपर ही चौपाल जहाँ पर सारे ब्रिजवासी इकट्ठे होते हैं फिर चौपाल के बाद में सामने पूर्व पूर्व दिशा की ओर पहले पूर्व दिशा की ओर जो ईशान कोण है उन ईशान कोण में श्री नारायण का मंदिर है नारायण के मंदिर के पास में फिर आग्ने कोण में श्री नारायण के रसोई अग्निकोण फिर उसके बाद में उत्तर दिशा में श्री बलदाव जी के भवन फिर उसके पीछे उत्तर दिशा में ही भंडार फिर भंडार के बाद में फिर पूर्व दिशा में श्री नंद बाबा श्री कृष्ण के बगल में ही श्री राधा सुंदर बगीचा है फिर बगीचे के बाहर जाने के लिए गुप्त रास्ता है रास्ता अनुसार करने उत्तर तो स्थान बना हुआ है फिर जो नैत्य है उस नैत्य कौन में जो विशेष भंडार वो भारी जो सामान वो सब रखा हुआ है ऐसे नंद भवन उनकी अपूर्व शोभा नंद भवन की सुंदर सीढ़ी है सीढ़ियों के नीचे पीछे के पैरों के ऊपर बैठे हुए आगे के दो हाथों के ऊपर खड़े हुए सिंह के ऊपर सिंह सुंदर कमल आकार का सुंदर गुंबज है और उस गुंबज के मध्य में नाचता हुआ बड़ा सुंदर गोल है जो द्वार है उन द्वार के दोनों सुंदर कमल आकार के कलश शोभा को प्राप्त हो रहे हैं बीच में बड़ा जो सभाग्रह है उसका सुंदर कुंभज जो है वो शोभा को प्राप्त हो रहा है उस कुंभज के ऊपर पचरंगी अपूर्व ध्वजा वो शोभा को प्राप्त हो रही है फिर पीछे की ओर पश्चिम दिशा की ओर जो जितने भी दासगण हैं उन सबों के निवास स्थल वे अपनी शोभा को प्राप्त हो तो यहाँ पर सब सखागण ये सब उत्तर की ओर श्री रोहिणी जी के महल श्री बंदावली के महल उनमें एकत्रित हुए और श्री सीरणा प्रांगण श्री सीर सीर माने जिन्होंने हल को ले रखा है सीरी कहते हैं हल तो श्री सीरणा हल उनके आंगन में विराजमान है प्रांगण में वे सब कृष्णोपतिष्ठ ऐसा कहते हुए में स्थित हुए सब कह रहे हैं ही प्रभातम के वैसा अरे उन्होंने देखो देखो प्रभातम प्रभात काल आ गया ही, ही देखो देखो सामने प्रभात हो गया ये कन्हैया अभी तक सो रहे हो और कन्हैया उठा क्यों नहीं है प्रभात रह क्यों ऐसे कहकर के सारे सखा कन्या को जगा दें तो प्रभातम किम हो वैश्रा अरे प्रभात हो गया अध्यात्म निद्रा निद्रा के कथम सखाना अरे कन्या अभी भी तो सो रोएगा अध्यात्म निद्रा निद्रा अभी तक सो रहा है कथम सखाना भैया कन्हैया सो क्यों इतनी देर तक इन सखाओं को रात्रि अच्छी नहीं लगे प्रियाओं को दिन अच्छा नहीं वेणगीत में श्री बल्लवाचार्य जी की सुगंध बड़ी प्रसिद्ध है वेणगी सुबोध और उसमें बड़े दिव्य भावों को श्री बल्लवाचार्य जी ने विशेष रूप से इक्कीसवें अध्याय में सुलोभनी में बहुत सुंदर सुंदर भाव श्री बल्लवाचार्य जी दिए बल्लभाचार्य जी की सुमति जो टीका है वो बड़ी प्रसिद्ध उसमें श्रीमद ने किया कि रात्रि के समय तो जो सखागण है वे दिन की लीलाओं का वर्णन करते हैं बाबा आदि के आगे और दिन के समय जो रात्रि की लीला है उसका श्री सखीगण मंजरीगण ये सब आपस में अपनी गोष्ठी में वर्णन कर तो दिन और रात्रि दोनों की लीलाओं का दोनों की दोनों वर्णन करते हैं दिन की लीला का साक्षात भोग किया है शाम सुंदर ने सखाओं और उसका भी वर्णन अपनी गोष्ठी में करते हैं रात्रि मिलकर और रात्रि की जो लीला है उनका वर्णन दिन के समय काचित परोक्ष सखी जो वर्णन है परोक्ष रूप में अपनी सखियों के आगे उन लीला का गायन कर तो अभी भी सो रहा है भैया सखा तब बोधयामी एनम कन्हैया को हम जगाते हैं ऐसा कहते हुए स्व ऐसा कहते हुए स्वतलपात उदस्थानम मत मंगल उदस्थान मधुमंगल भी उस समय अपनी शैया की शैया से उठ करके बैठते मधुमंगल थोड़े पेड़ से जगह कल जग मधुमंगल अपनी शैया से मधुमंगल में अभी प्रभात तो आ गया अभी भी हमारा सखा तो सो रहा है उसको अब हम जगाते हैं ऐसा कहते हुए जब चले तो सखाओं को चलते हुए देख मधुमंगल भी अपनी शैया से उठ करके बैठ गए समकृष्ट वैश्य जलपम तलवार हरे ज्ञान प्राविशत मंगल वैसे अरे कन्हैया जाल ऐसा कहते हुए ऊंगते ऊंगते बोलते बोलते मधुमंगल चले समकृष्ट वैसे हे सखा जागो जल्पम तलपाल हरे ऐसा जल्प करते हुए बोलते हुए हरि के तलपाल हरि के शैया भवन की ओर उत्थापन मित्रालसस्खलत ज्ञान नींद मैंने आंखों को मिलते मिलते मधुमंगल भी चला मधुमंगल भी चले मित्रा के कारण आलस्य के कारण स्खलत ज्ञान उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं स्खल या वेशी चले प्राविशन मधमंगल भी सब सखाओं के पीछे पीछे आए और सबके आगे पहुंचे प्राविशन बदमंगल तब बार उत्थात नासी क्षण क्षण तब बाद विगत नृत्य हो गया सखाओं के हो अल्लाह को सुनकर के शाम सुंदर की विद्राट हो गई उत्तिष्ठा उत्तिष्ठासु श्याम सुंदर उठने की इच्छा वाले हो गए उत्तिष्ठासु उठने की इच्छा वाले हो गए हैं उत्तिष्ठासु अपने ईश्वर वे श्री शाम सुंदर उठने की इच्छा वाले हो गए पर ईश्वरों नासिक उठने में वे सफल अभी नहीं हुए उठने की छवाई हो गई ये प्रत्यय इसमें कुछ सन आता है तो उठासु सुप्रत्यय जो है वो इच्छा के अर्थ में आता है जिज्ञासु पिपासु मुमुक्षु जीर्षु क्या व्याकरणिक विचार तो ये सब इच्छा वाले अर्थ में तो उत्तिष्ठासु मन उठने की इच्छा वाला जो शेषांश अपने ईश्वर समर्थ है उठने की इच्छा वाले हैं परंतु खातो ईश्वर नासी उठने में अभी समर्थ नहीं हुए अभी आलस्य आ रहा है क्षण अब श्री श्याम सुंदर की आंखों में उमेर भी भरी हुई है भूना भूना भूना पूरी उस समय सब सखा करके उत्तिष्ट कुरियाम मुखमार जलमते उठो उठो मुख मुखमार जलमते कन्हैया तेरा मुंह धुलाम पलस से बासा टिबियत को अरे कहते बलदारू के वस्त्र को क्यों पहन धारण कर रखा है नीले वस्त्र को क्यों धारण कर रखा है ऐसा कहकर दिमाग मिला ऐसा कहकर के श्री प्रियाजू के ओढ़ने उसको बलदारू का वस्त्र कहकर के इन सखाओं ने ले लिया और वास्तव तो वस्त्र को कृष्ण के अंदर से खींच लिया और अब रक्ष सार्याम और उस समय अब रक्ष सार्याम मधुमंगल श्री पौर्णमासी जी के साथ में श्री यशोदा उनसे अब पौर्णमासी जी और उनके साथ में श्री मधुमंगल श्याम सुंदर को लक्षित करने के लिए हंसी करने के लिए लीला कर रहे हैं पौर्णमासी कह रही है अरे देखो तो सही इन सखाओं को इन बालकों को जरा भी होश नहीं है न जाने कहा कांटे में खेलते हैं सारे अंग में कैसी खनौच लगा कैसे यशोदा कर रही है और श्री मधुमंगल उस समय उन्हीं लीलाओं को बिल्कुल छिपा करके और कन्हैयाओं नीचे नीचे हो रहे हैं तो ये क्यों बोले जा रहा है बोले जा रहा है पर मधुमंगल के श्याम सुंदर को हैरान करते हुए मंत्र विराजमान बिहारी लाल श्री रमण हरि गोविंद जय राधा हरि गोविंद पिता गौर